ये इस वजह से है कि वो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है चुनाचे वो कुछ नहीं समझते